और अगर ये आसमान का कोई टुकड़ा गिरते हुए भी देख लें तो ये कहेंगे कि ये कोई गहरा बादल है